ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग है आपका पुराना साथी रेडियो सिलोंग तो आपको बताने की जरूरत नहीं है ना बहनों भाइयों कि सन सत्तावन की छाव के इस गीत में जो मर्दाना आवाज थी वो खुद दिलीप कुमार की थी और बड़े सुर में गाया था उन्होंने बहुत ही बहुगुणी कलाकार है हमारे सुपरस्टार दिलीप कुमार कौन है जो उनकी तारीफ नहीं करता एक तारीफ उन साहब की आवाज में सुनिए बहनों भाइयों जो कुछ फिल्मों में हीरो दिलीप कुमार के विलन बने थे यानी अजीत ये उस जमाने की बात है जब हम दोनों मुगल आजम और नया दौर में काम कर रहे थे जी एक दिन शाम को मैं उनके घर गया देखा कि बहुत से आदमी बैठे हैं हम्म। मैंने उनके कंपाउंड में गाड़ी छोड़ दी और सामने अपनी बीवी से मिलने चला गया जो मुझसे नाराज होकर अपनी बहन के पास रहने लगी थी अच्छा अच्छा बहुत सारी बातें करने के बाद हमने ये फैसला किया कि डिवोर्स ही हमारे लिए बेहतर रहेगी ओहो उस वक्त रात के दो बजे थे मैं वहां से निकला तो बहुत परेशान था जी चाहता था कि अपने आप को खत्म कर दूं गरज ये बातें सोचता हुआ मैं उनके कंपाउंड में आया देखा कि हर तरफ अंधेरा है मैंने गाड़ी में बैठकर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की दिलीप साहब ने आवाज दी कि कौन है आ, आ, मैंने कहा जी मैं हूं अजीत इतना सुनना था कि वो बाहर निकल आए हम्म। लाइट जलाई और मेरी सूरत और से देखने लगे पूछा खैरियत तो है अंदर आइए शायद मेरे चेहरे पर उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया और बड़ी तरकीबों से सारी बातें पूछी फिर मेरा गम हल्का करने के लिए अपनी बातें सुनानी शुरू की कहने लगे कि जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो मैं समझा कि आज मेरी भी जिंदगी का आखिरी दिन है कर्ज इस तरह सुबह पांच बजे तक वो अपनी बातें सुनाते रहे हम्म। मुझे महसूस हुआ कि यह आदमी एक पहाड़ है जिसमें सैकड़ों ज्वालामुखी की आग भरी हुई है लेकिन फिर भी खामोश इन तमाम तकलीफों के बावजूद ये शख्स हर वक्त हंसता रहता है और लाखों और करोड़ों लोगों का दिल खुश करता है अमीन साहब जिंदगी में पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं कितना कमजोर हूं कि एक जरा से गम को बर्दाश्त न कर सका दोस्तों अजीत और दिलीप कुमार उन्नीस में जिस फिल्म में एक साथ नजर आए थे उसी के गीत की झलक अब सालाना पायदान नंबर 19 पर हमें नया दौर की याद दिलाएगी चिकने चेहरे जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले तो कैसे न नजर फिसले जिंदगी में भाई सच्ची बात तो ये है कि कोई चीज हो या गीत हो या फिल्म हो वो चलकर बड़ी तभी होती है अगर वो खुद अच्छी हो सिर्फ पब्लिसिटी पर आज तक कोई भी चीज नहीं चली रवि साहब का उस साल का एक बहुत ही खूबसूरत सैड सॉन्ग मैं यहाँ जरूर पेश करूंगा इसे भी नहीं मिल पाई थी लोकप्रियता की ज्यादा धूप सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया दिन में अगर Yeah. कुछ लुटाते होश में आए तो क्या किया तो तो बहनों भाइयों उस साल का ये गीत बड़ा सुरीला रूप था उस कहावत का जो हर साल में हर देश पर लागू होती है यानी अब रोवत क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत और बहनों भाइयों यही इशारा हमारी गीत माना और हमारे फिल्म संगीत का भी हमेशा से रहा है हम सब के लिए कि हाँ नई नई लहरों को अपने जीवन में आने जरूर दो भाई मगर इतने जोर से नहीं कि वो लहरें हमारी परंपरा हमारी तहजीब हमारे कल्चर की हर अच्छी चीज को भी बहा कर ले जाएं वरना हम उन्हें खोकर वही कहते रह जाएंगे जो आज की आखिरी झलक में उन्नीस के गीत नंबर 18 ने कहा था फिल्म चंपा करी में कुछ ही मिनटों में गीतवाना की धूप में खिला और छाव में ठहरा हुआ उस साल का आधा सफर खत्म हो जाएगा बहनों भाइयों और फिर अगले वॉल्यूम में हम उन्नीस ही के सुरों में और आगे बढ़ेंगे उस वॉल्यूम में मैं कोशिश करूंगा कि आपको गीतमाना की छाओ में के कुछ प्रेमियों के खत सुनाऊं जैसे गीत माने रेडियो प्रोग्राम में मैं सुनाया करता था याद है ना आपको अब अपने रेडियो दोस्त अमीन सयानी को बाय बाय कहकर यादों की सुहानी रातों में चांद सितारों से करते रहिए आज की कुछ आखिरी प्यार भरी बातें हमें दुनिया पे मोहब्बत का असर है छाया हुआ दुनिया पे मोहब्बत का असर है दुनिया यूं ही आबाद रहेगी हम हो न हो दुनिया यूं ही आबाद रहेगी अरे दा आप पूछ रहे हैं कि कौन आया अजी ये पूछिए क्या क्या आया देखिए एक तो मैं आया आपका रेडियो दोस्त अमीन सायानी साथ में आया गीत माला की छाव का वॉल्यूम जिसमें 1957 यानी उन्नीस के सालाना प्रोग्राम के दूसरे भाग के सत्रह टॉप हिट गीतों की झलकें भी आईं और सोने पे सुहागा ये कि उन्नीस में हिट परेड के हिसाब से जरा कम चली हुई मगर बेमिसाल बड़ी अनमोल धुने भी आईं तो भाई इन सब के लिए खोलिए अपने दिल के दरवाजे कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की धनकार लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की धनकार लिए पहचाने आँख न जाने दिल पहचाने सूरतिया कुछ ऐसी आँख न जाने दिल पहचाने सूरतिया कुछ ऐसी याद करूँ तो याद न आए मन मनवा सोच में डूबा सपनों का तन लिए कौन आया मेरे मन के बारे पायल की धन लिए कौन आया बदल कर आई एक पल सोचूं मेरी आशा रूप बदल कर आई दूजे पल फिर ध्यान ये आए हो न कहीं पर आई पद परदेसी के घर आई एक अनोखा प्यार लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की आपको याद है ना उन्नीस के गीतमाला के वार्षिक कार्यक्रम के पहले हिस्से के गीतों की यानी नंबर चौंतीस से लेकर नंबर अठारह तक के गीतों की झलकें पिछले वॉल्यूम में बजी थी और आज ये सिलसिला शुरू होता है उस साल के हिट गीत नंबर सत्रह से फिल्म थी नई दिल्ली लेकिन बैरो भाई आप अगर फिल्म का नाम गीत कोशों में ढूंढे ना तो वहाँ लिखा होगा न्यू दिल्ली नखर वाली देखने में देख लो है कैसी भोली भाली अजनबी ये छोरिया दिल पे डाले डोरिया अजनबी ये छोरिया दिल पे डाले डोरिया मन की काली वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में भाई नई दिल्ली के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे ना मोहन सहगल साहब वो कमाल के इंसान थे उनका यूनिट एक यूनिवर्सिटी की तरह था जिसमें सच सवर कर कई हो रहा नौजवान खुद बड़े ही कामयाब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बन गए जैसे राजेंद्र भाटिया जे ओम प्रकाश मोहन कुमार सोहनलाल कंवर वगैरह वगैरह मोहन सहगल की खूबसूरत फिल्मों की कहानियां जो होती थी ना वो भी बड़ी प्यारी होती थी साहब जिनमें सारे देश के लोगों को अपनी कहानी नजर आया करती थी और इसकी वजह क्या थी ये खुद मोहन सहगल साहब ने एक बार मुझे बताया था मैं तो एक निर्माता निर्देशक हूँ जहाँ से मुझे अच्छी कहानी मिलेगी मैं ले लूंगा चाहे वो बंगाली भाषा से मिले या मराठी मलयालम या कन्नड़ कोई भी भाषा हो हिंदी भी क्यों ना हो मैं तो एक हिंदुस्तानी हूं इसलिए सब रीजनल भाषाओं को मैं अपनी मलकियत समझता हूं अपनी समझता हूं वाह वाह भाई यही तो बहुत जरूरी है हमारे जैसे बहुभाषी मल्टीलिंगुअल देश के लिए यानी सभी जबानों का सम्मान हो सभी जबानें खुद भी फले फूले और सभी की खूबियां भारत की मीठी मधुर आसान सीधी सादी सबकी समझ में आने वाली हिंदुस्तानी भाषा में भी ढले वही प्यारी सरल हिंदुस्तानी भाषा जिसके जरिए हमारी फिल्में और उनके गीत और हमारी आपकी गीत माना भी बरसों से सभी दिशाओं सभी भाषाओं के लोगों को प्रेम और एकता के बंधन में बांधे रखने की कोशिश करती रही है और उम्मीद है कि कामयाबी होती रही है और बहनों और भाइयों प्रेम और एकता से ही तो हम सब मिलकर एक साथ आगे बढ़ सकते हैं वरना हमारा कोई भी सपना सही मानों में पूरा नहीं होगा हाथ आएंगे तो सिर्फ रातों के साए रात ने क्या क्या पाग दिखाए रंग भरे तो जाल बिछाए को याद दिलाए रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए रंग छुपाए चलो जहाँ किस्मत ले जाए दुनिया पर आई लोग पर आए रात ने क्या क्या पाग दिखाए रंग भरे तो जाल दिखाए आंखें खुली तो सपन फिल्म एक गांव की कहानी और इसके अलावा Dekh Kabira Roya Gateway of India Sharda Pardesi Anjali Samundar ऐसी कई फिल्में थी उन्नीस में जिनमें कई लाजवाब गीत थे मगर वो गीत गीतमाला की सालाना संगीत सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाए या तो वो नगमे दो वर्षों की लोकप्रियता में बटकर बिखर गए या वो फिल्में ज्यादा चली नहीं या रिकॉर्डों के डिस्ट्रीब्यूशन में देर हो गई होगी मगर हाँ उस साल कुछ ऐसी फिल्में जरूर थीं जिनके कई गीतों ने गीतमाला में खूब धूम मचाई साहब जैसे उन्नीस में वार्षिक पायदान नंबर 16 का गीत था नया दौर से और मेरे शहर से hey! मैं बम्बई का बाबू नाम मेरा अनजाना इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना मैं बम्बई का बाबू और पायदान नंबर पंद्रह पर भी फिल्म नया दौर ही का गीत चला था आपको अपने साथ लेकर तुम्हारा मांग लिया संचार मांग के साथ तुम्हारा मांग लिया संसार मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार मांग के साथ तुम्हारा और उस साल नंबर चौदह पर कौन थी आशा यानी फिल्म भी आशा और आवाज भी आशा नीना नीना बाप रे भाई उस साल अमेरिका और इंग्लैंड से आए हुए इस धुआंधार रॉक एंड रोल म्यूजिक ने हिंदुस्तानी फिल्मों में भी हुल्लड़ मचाना शुरू कर दिया था आशा और किशोर और मोहम्मद रफी जैसी आवाजों में ढलकर और मजे की बात तो यह है बहनों भाइयों कि रॉक एंड रोल को हमारी फिल्मों में लाने वाले संगीतकारों में आगे आगे जो थे ये वही थे जो अपनी मीठी मधुर अमर धुनों के सहारे आज भी हमारी यादों को महका रहे हैं सदा तू ही तू की है सदा खुदी में बेखुदी कर रही है गुदगुदी का संगीत ही ऐसा मधुर था सर गीत के बोल भी ऐसे पुरकशिश थे कि उन्हें सुनकर लोगों पर वही असर होता था जैसे इंदिवर के लिखे हुए 1964 के एक गीत के मुखड़े में कहा गया था यानी